मकरध्वज नाम कबीर एक उस रजधानी का रक्षक था उस रजधानी का रक्षक था हनुमान राम के पायक थे वह अहिरावण का सेवक था हनुमान राम के पायक थे वह अहिरावण का सेवक था या मझे खिलाड़ी थे वह अभियुवक नौ सिखिया था फिर भी निज बल में साहस में कसवाला बा का योद्धा था फिर भी निज बल में साहस में कसवाला बा का योद्धा था रोक उन्हें उसने कहा रोक इन्हें उसने कहा निज प्रभु का आदेश आज किसी का नगर में होगा नहीं प्रवेश आज्ञा स्वीकार न की तो फिर उत्पात पूर्ण हो जाएगा बालक द्वारा है वृद्ध किस अभिमान चूर्ण हो जाएगा इसलिए यहाँ से लौट जाओ बानर के नाते कहता हूँ मैं मकर ध्वज कहलाता हूँ कपि हनुमत का बेटा हूँ मैं मकर ध्वज कहलाता हूँ कपिवर हनुमत का बेटा हूँ हनुमत के तुम पुत्र हो चौके हरि के भक्त हुआ नहीं मैं तो कभी नारी में अनुरक्त मकर ध्वज बोला वह हनुमत जो जला चुके हैं लंका को हनुमान बीच में गरज उठे क्यों बढ़ा रहा है शंका को हनुमान बीच में गरज उठे क्यों बढ़ा रहा है शंका को मैं ही हनुमत हूँ उधर देख देख ही हनुमत हूँ इधर देख प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं कैसा बेटा किसका बेटा जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं कैसा बेटा किसका बेटा जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं हनुमत के यह वाक्य सुन का पावह तत्काल तन के सारे रुधिर में आया एक उबाल रहा देखता पिता को झुका दिया फिर माथ फिर पद रज लेने लगे उसके दोनों हाथ बोला कर लंका दहन पिता जल में पूछ बुझाए थे उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी मछली ने उसका पान किया रह गया गर्भ तत्काल उसे मिल गया विचित्र दैव क्रम से यह मकर ध्वसा लाल उसे मिल गया विचित्र दैव क्रम से यह मकर ध्वज लाल उसे निश्चय बात विचित्र है हसे राम के दूत फिर अचरज यह तरुण भी शीघ्र हो गया पूत वह बोला अहि रावण प्रभु का मेरे पर कृपा भार है मेरे पर कृपा भार है दैवी मैया है सिद्ध उन्हें उनका चमत्कार है यह दैवी मैया है सिद्ध उन्हें उनका चमत्कार है यह स्वामी का है आदेश उधर आदर इस और पिता का है असमंजस में है मकर ध्वज यह सोच रहा करना क्या है उस ओर कुआं है दिख रहा इस ओर दिखती खाई है है ऐसे ठोर खड़ा दिखा सेवक पथ देता नहीं दिखाई है है ऐसे ठोर खड़ा दिखा सेवक पथ देता नहीं दिखाई है पितृदेव आप बतलाए इस समय धर्म क्या मेरा है हे कर्मशील हे कर्मवीर कर्तव्य कर्म क्या मेरा है हे कर्मशील हे कर्मवीर कर्तव्य क्या कर्म क्या मेरा है बेटे में कर्तव्य के देखे जभी हिलोर प्रेम दृष्ट से बाप ने निरखा उसकी ओर कर्तव्य पूछते हो बेटा तो सुनो बाप संतुष्ट हुआ तुम निश्चय ही मेरे सुत हो यह शुद्ध हुआ यह पुष्ट हुआ तुम निश्चय ही मेरे सुत हो यह सिद्ध हुआ यह पुष्ट हुआ हनुमत ही का बेटा ऐसा गंभीर प्रश्न कर सकता है कर्तव्य विपक्षी तक से भी होकर बेधड़क पूछता है मैं महावीर कहलाता हूँ तो तुम भी युवक वीरवर हो मैं पक्का सेवक हूँ प्रभु का तुम भी उसके किंकर हो मैं पक्का सेवक हूँ प्रभु का तो तुम भी उसके किंकर हो तुम मुझसे पूछ रहे हो या इस समय धर्म क्या है मेरा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ यह कर्तव्य कर्म क्या है मेरा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ यह कर्तव्य कर्म है क्या मेरा मैं ही कह दूँ निर्णय कर दूँ अच्छा तो सुनो ध्यान देकर अहिरावण को संगार हनुमत जाएगा निज प्रभु को लेकर इसलिए धर्म है मेरा यह पहुँचूँ मैं भीतर नगरी के जब लक्ष्य भिन्न दोनों का है तो कैसा बाप और बेटा दो वीरों में मल्ल युद्ध होगा बस इसी ठोर बस इसी ठोर बेटा अब शक्ति करेगी न्याय कौन जिन जननी का नी का जन है तुम फिर भी मछली नंदन हो हनुमान अंजनी नंदन है तुम फिर भी मछली नंदन हो हनुमान रंजनी नंदन है पिता का पुत्र ही से सामना है प्रकृति में क्या नया बानक बना है पिता का पुत्र ही से सामना है पिता का पुत्र ही से सामना है उधर प्रभु को चुरा कर दुष्ट लाया उधर प्रभु को चुरा कर दुष्ट लाया इसी न्याय पर तोरण ठना है पिता का पुत्र ही से सामना है इधर प्रभु को छुड़ाने दास आया इधर प्रभु को छुड़ाने दास आया हृदय में हर्ष है साहस बना है पिता का पुत्र ही से सांबना है विदित होता है राधे श्याम इससे विदित होता है राधे श्याम इससे वही जीते गज से को जीतना है वही जी तेग को जीतना है पिता का पुत्र ही से सामना है प्रकृति में क्या क्या बानक बना है प्रकृति में क्या नया बानक बना है पिता का पुत्र पुत्र ही से सामना है पिता का पुत्र से ही सामना है आगे बढ़ अब भिड़ गए प्रलय और भूचाल दोनों ही थे केसरी दोनों शैल विशाल